कक्षा के प्रारंभ में परम पिता परमात्मा का स्मरण अंतर्मुखी स्थिति सब ओर से समेटकर इसी स्थान पर अंतर अपने को केंद्रित कीजिए श्वास भरें ओ राष्ट्रीयमानः अध्यात्म में चलने की हमारी इच्छा है चाहे वो प्रारंभिक स्तर पर हो या गंभीर स्तर पर अंदर से हम चाहते हैं कि उससे हमारा जीवन शांत बने सुखी बने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पाने की तरफ हम आगे बढ़ सकें बहुत सी बातें जानने समझने के बाद हम कुछ कुछ उस पर चलते हैं और अधिक चलते जाते हैं योग साधना को अच्छी तरह करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है और हमारे शास्त्रों में योग दर्शन में भी और अन्य भी शांत रहने के अनेक उपाय प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बताए हमारे जीवन का ये सत्य है कि हम अभी पूरी तरह शांत नहीं है लेकिन ये इच्छा सबकी है कि हमारी अशांति समाप्त हो हम अपनी समझ से इसके उपाय भी करते रहते हैं शांति प्राप्ति के हमारे अधिकांश उपाय अन्यों पर केंद्रित होते हैं क्योंकि हम अपनी अशांति का कारण अन्यों को प्रमुखता से समझते हैं मैं तो शांति से घर में बैठा था शांति से अपना काम कर रहा था इसने आकर के ऐसा बोलना शुरू किया ऐसा करना शुरू किया तो मैं अशांत हो गया बाह्य कारण निमित्त के रूप में हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं ऐसा हुआ तब मेरे में अशांति आई जब ऐसा नहीं था तो अशांति नहीं थी और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम सबके जीवन में मिलते हैं हम सबका प्रत्यक्ष है ये सब देखते देखते ये बात हमारे अंदर दृढ़ हो जाती है कि मेरी अशांति का कारण अन्य व्यक्ति है परिवार के आस पड़ोस के कर्मचारी जिनसे भी हम संबंधित हैं जिनसे हमारा व्यवहार है और जब हम कारण वहां देखते हैं तो उसको ठीक करने का भी प्रयास करते हैं उनको बताते हैं समझाते हैं नहीं मानते हैं तो गुस्सा होते हैं प्रतिक्रिया स्वरूप हम भी फिर उनके विपरीत व्यवहार करते हैं ताकि उनको सबक मिले और हमारे को आप आगे से अशांत ना करें ये बहुत कुछ हम करते हैं उससे कहीं कुछ ठीक भी हो जाता है कहीं ठीक नहीं होता और कहीं ठीक करने में अशांति और बढ़ जाती है हमारी तो ये अपने आप में तो सत्य है कि अन्य भी हमारे अशांति के निमित्त बनते हैं लेकिन उसमें हम भी निमित्त हैं इस पर हमें अधिक ध्यान देना है दोनों तरफ बात है उधर भी कारण है और इधर हमारे अंदर भी कारण है अब देखना और समझना यह है कि कौन सा उपाय शांति प्राप्ति के लिए सरल है और संभव है किसी व्यक्ति ने तीली जला करके फेंक दी और घास फूस कागज कपड़े थे वो जल हुए जल पड़े कौन कारण है तिली कारण है तिली नहीं होती तो कोई आग नहीं थी अपनी जगह ठीक है बात लेकिन वो जलने की सामर्थ्य वाला घास फूस कागज भी तो था जो कि जल गया पत्थर या जमीन में भूमि पर अगर तीली जला के फेंकी जाती तो वहां आग नहीं लगती यानी कारण तो दोनों तरफ है अंदर भी है और बाहर भी है दोनों में से किसको संभालना हमारे लिए कम प्रयत्न से संभव है आसानी से संभव है तो इसके लिए अध्यात्म में ये दृष्टि दी जाती है कि हम स्वयं को कुछ ठीक कर लें परिवर्तित कर लें तो ये आसान तरीका है इसके लिए दो लौकिक उदाहरण दिए जाते हैं कि बाहर गर्मी की धूप है और हमें चलना भी है जाना भी है बाहर गए बिना काम भी नहीं चलेगा एक उपाय ये है कि सूर्य को उगना बंद करवा दें अथवा सब सड़कों पर कनात और ढकवा दें सबको मकान बनवा दें ताकि हम बिना धूप के आसानी से घूम सकें यह दूसरों पर निर्भर उपाय और अपने पर निर्भर उपाय ये है कि हम एक छतरी लेकर के चल पड़े छतरी हमने ली है हम जहां जा रहे हैं वो छतरी हमारे पास में है बारिश पे लगती है सड़क में कंकर पत्थर कांटे ऊंच नीच बहुत कुछ है सबको हम साफ नहीं कर सकते एक तो हम स्वस्थ रहें ठीक चलें तो सारे रास्ते बिल्कुल अच्छे कर दिए जाएं हमारे पैरों के अनुकूल वैसे तो संभव नहीं है हमारे पैरों के अनुकूल होंगे तो गाड़ियों के अनुकूल नहीं होंगे गाड़ियों के अनुकूल होंगे कठोर तो हमारे पैरों के अनुकूल नहीं होंगे संभव ही नहीं है अथवा मान भी लो कि सब रास्तों को हम ठीक कर दें ताकि हमारे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो जैसे हम अपने घर को ठीक कर लेते हैं वहां नंगे पैर भी चलते हैं कोई आपत्ति नहीं है छोटा सा क्षेत्र है लेकिन घर में तो बैठ नहीं सकते दुनिया में तो जाना है तो क्या उपाय है आपके सबके मन में आ गया होगा ऋषियों ने ये उदाहरण दिया वे जूते पहन के चल प्रयोजन तो वही पूरा होना है कंकर से कीचड़ से कांटे से बचना है एक तो सारे रास्तों को साफ करो एक है कि जूते पहन करके चलो बड़े सरल व्यवहारिक उदाहरण देकर के ऋषियों ने ये समझाने का प्रयास किया कि सरल रास्ता क्या है शांति से सुख से जीने का हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तपन का कारण सूर्य नहीं है है हम ये नहीं कह सकते कि पैर में दिक्कत होने के लिए कंकर पत्थर जो सब बिखरे हैं वो कारण नहीं है, हैं लेकिन हम भी तो कारण हैं और हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने को कुछ परिवर्तित करके बहुत हद तक शांत चल सकते हैं हमें यात्रा करनी है लोगों के बीच में आना है जाना है बैठना है व्यवहार करना ही पड़ता है और कुछ नहीं तो घर परिवार वालों से करना पड़ता है जबकि कई बार लगता है कि यही मेरी अशांति का कारण है चाहे पति हो चाहे पत्नी हो बच्चे हो वो ही अशांति का कारण लगता है और फिर उनको हम बदलने का प्रयास करते हैं दूर जाने का प्रयास करते हैं वो भी उपाय है यदि संभव नहीं है तो ठीक है दूसरी जगह भी जा सकते हैं लेकिन मुख्य उपाय हमारे अंदर का है कल आप लोगों ने कुछ कुछ अपनी घटनाएं विचारी होंगी देखी होंगी दिन में भी विचार आया होगा मेरी अपनी अशांति का कारण कौन सी स्थितियां व्यक्ति घटनाएं हैं और उन स्थितियों में मैं अशांत हुआ था क्या ये संभव था कि मैं अशांत नहीं होता या कम अशांत होता कि कुछ बातें आपने विचारी और ये हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है यदि हम अध्यात्म में चलना चाहते हैं अगर हमारे जीवन में अशांति बनी रही परिस्थितियों के कारण और हम अपने को वैसा नहीं बना पाए तो आध्यात्मिक रुचि होते हुए भी हम इसमें गति नहीं कर पाएंगे और अशांति अशांति के कारण बाहर उपस्थित हैं अंदर हैं हम यदि उसको शीघ्रता से संभालने या निपटाने में समर्थ नहीं हैं तो उसमें बहुत अधिक समय श्रम लगा देंगे और साधना के लिए जितना एकांत और शांति चाहिए वो हमारे पास नहीं रहेगी चाहते हुए भी नहीं हो पाएगा और फिर वर्षों बाद में हम ये कहेंगे मेरी बहुत इच्छा थी मैं करने भी लगा था लेकिन क्या करूं समाज और परिस्थितियां घर की ऐसी रही कि दशकों बीत जाते हैं कर नहीं पाया कर नहीं पाया तो जो स्थितियां हैं उसमें हम कैसे साधना कर सकें और कम से कम अपने स्तर पर हम कैसे करें ये बहुत ध्यान में देने की बात है जब हम तुलना करते हैं कि हमारी अशांति का कारण बाहर अधिक है या अंदर अधिक है तो अधिक कारण अंदर दिखाई देता है अशांति का कारण बाहर है लेकिन बाहर हमारे लिए अनुकूलताएं भी बहुत हैं प्रतिकूलताएं हैं तो अनुकूलताएं भी बहुत हैं परमात्मा ने तो सबको शांति ही बनाया है अपनी प्रकृति को बीच बीच में कहीं हमें उपद्रव दिखाई देता है लेकिन मूलतः परमात्मा ने इन सब चीजों को शांत बनाया है हम शांत रह सकें ऐसा बनाया हम शांति पाठ बोलते हैं वेद मंत्र क्या कहता है ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति इस प्रार्थना को बोलते हुए हम क्या भावना करते हैं कि द्विलोक शांत हो जाए पृथ्वी शांत हो जाए जल शांत हो जाए सब शांत हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं इस तरह से करते हैं जैसे कि ये अशांत है बहुत अधिक अशांत है और ये शांत हो जाएंगे तो शांत हो जाएंगे लेकिन वेद मंत्र के वाक्य ऐसे नहीं है कि ये अशांत है और ये शांत हो जाए ऐसी प्रार्थना नहीं है इसमें इसमें तो ये कहा जा रहा है देव शांति दिवलोक शांत है पृथ्वी शांति पृथ्वी भी शांत है जल भी शांत है अंतरिक्ष भी शांत है सब शांत है औषधियां शांत हैं वनस्पतियां शांत हैं देवता लोग शांत हैं और इन सब में जो शांति है सा मां शांति एधी सा शांति वो शांति कौन सी शांति जो इन सब में है मां मुझको मेरे को एधी प्राप्त हो जाए प्रार्थना तो इतनी है ये प्रार्थना नहीं है कि सब जगह शांति हो जाए सब जगह शांति हो जाए ये मूल मंत्र में भावना नहीं है यद्यपि इसका जो गीतिका का हम बोलते हैं शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में जल में थल में और गगन में ये जो हम बोलते हैं ये भाव क्या है हे प्रभु इनमें सब में शांति कीजिए ठीक है वो भी प्रार्थना की जा सकती परमात्मा ने ये सृष्टि अशांत नहीं उसने हमारे कल्याण के लिए हमारी मुक्ति प्राप्ति के लिए साधन दिए हैं वो श्रेष्ठ और सर्वज्ञ है सर्वसमर्थ है और प्रकृति से जितना अच्छा संसार बन सकता था वो उसने बनाया जो छोटे मोटे उपद्रव दिखाई देते हैं वो बहुत कम है और उनमें भी मनुष्य कृत्य हमारे द्वारा किया गया बहुत सा उपद्रव ऋतुओं का और चक्रों का इतस्तः होना उसमें हम भी कारण है लेकिन परमात्मा की तरफ से ये व्यवस्थाएं शांत की गई हैं शांत बनाई गई हैं हम अपने शरीर को देखें शरीर के कारण हम बहुत परेशान हैं ये रोग वो रोग कभी ये कभी वो लेकिन दूसरी तरफ देखें हम कितने कार्य बड़ी सुविधा से आसानी से कर पाते हैं एकदम तो आसानी से कितनी शांति है अगर इन सब में उपद्रव हो जाए सब अंगों में तो देखिए क्या हालत होगी हमारी कहीं कहीं कुछ कुछ बीमारी होती है कभी कभी आती है और उसमें भी हम कारण होते हैं प्राय तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि उसका बनाया हुआ शरीर उसके दिए हुए साधन ये हमें अशांत करने वाले नहीं है हम अशांति के लिए कहने लगते हैं कि क्या करें मन ही ऐसा है ये मन है ही बड़ा चंचल ये मन बनाया ही ऐसा है इस मन ने परेशान कर रखा है मन पे दोष दे देते इस मन को भी परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया है सत्वगुण प्रधान बनाया है क्रियाशील बनाया है हमारा हित साधने के लिए बनाया है ये भी मूलतः शांति है क्रियाशील है बहुत उस क्रियाशीलता का जब हम ठीक उपयोग नहीं करते दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि चाकू का उपयोग न करें तो उंगली काट देगा ये चाकू का दोष नहीं है ये हमारा दोष है अब बचते केवल अन्य प्राणी हैं उनमें भी मनुष्य जो कि कर्म करने में स्वतंत्र हैं और अन्याय पूर्वक उचित अनुचित ढंग से हमें बाधा कष्ट पहुंचा देते हैं उसमें भी हम यदि अपने को संभाल सकें तो हम इतने अशांत तो नहीं होंगे जितने की आज हो जाते हैं शांति का मतलब क्या है पूछे कि शांति किसे कहते हैं शांति किसे कहते हैं हम अनुभव करते हैं कि मैं बहुत शांत हूं मतलब क्या है शांति का कोई कहे कि भाई कोई बाधा ना हो कष्ट ना हो तो उसे शांति कहते हैं ठीक है बाधाओं का ना होना किसी भी तरह का ये शांति की स्थिति कहलाता है उपशम जहां पर हो उपद्रव ना हो स्थितियां सामान्य हो और इसको हम शम की तरह कल्याण की तरह भी देख सकते हैं कि जिस स्थिति में कल्याण होता है उसमें हम शांति का अनुभव करते हैं और जिस स्थिति में अकल्याण प्रतीत होता है उसमें हम अशांत हो जाते हैं जहां कल्याण देखेंगे वहां शांति होगी जहां अकल्याण देखेंगे वहां अशांति दिखेगी हमारा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां हम अपना हित या लाभ देखते हैं वो अच्छा लगता है और हम शांत रहते हैं और जहां हानि देखते हैं दुख देखते हैं वहां हम अशांत हो जाते हैं अशांति की जो हमारी घटनाएं हैं अपनी अपनी उसमें हमें यह देखना है कि इस घटना में मेरा अकल्याण क्या हुआ उस घटना से हम अशांत हुए ये तो हमें पता है और हमने ये भी समझा जाना कि अशांति तब आती है जब कुछ अकल्याण हो कुछ दुख हो हानि हो उससे जुड़ी हुई उससे अंदर की बात है तो इस घटना से मैं अशांत हुआ तो थोड़ा सा उसका ये विश्लेषण हम करें कि ऐसा क्या अकल्याण मैंने यहां पर देखा जिससे कि मैं अशांत हुआ ऐसी कौन सी हानि देखी जिससे कि मैं यहां पर अशांत हो गया ऐसा कौन सा दुख मुझे प्राप्त हुआ जिससे कि मैं यहां पर अशांत हो गया अशांति का कारण अकल्याण दुख और हानि का होना और मानना अनुभव दृष्टि अकल्याण है और हमें अकल्याण पता लग रहा है हम मान रहे हैं एक स्थिति दूसरी स्थिति अकल्याण नहीं है हानि नहीं है लेकिन हम उसमें अपना अकल्याण या हानि मान रहे हैं समझ रहे हैं हम जिसमें अकल्याण हानि मान रहे हैं समझ रहे हैं उसमें ये आवश्यक नहीं होता कि वहां वास्तव में अकल्याण या हानि हो ही रही हो ना होते हुए भी हमें लग सकती है और होते हुए भी लग सकती है तो जब हम अपनी अशांति के कारणों घटनाओं व्यक्तियों वस्तुओं को देखते हैं विचार करते हैं उनका विश्लेषण करेंगे तो साधक की तरह हम ये विचार कर लें कि ऐसी कौन सी हानि यहां पर मेरी हो रही है जिससे कि मैं अशांत हो गया हूं यदि हमें समझ में आ जाता है कि यहां तो अशांति का कोई कारण ही नहीं है अकल्याण हो ही नहीं रहा है कोई हानि दुख तो है नहीं हानि और दुख है नहीं तो फिर मैं अशांत क्यों हो रहा हूं तो अपने आप हमारे को लगेगा ये तो कोई बात ही नहीं है और हमारी अशांति नहीं आ पाएगी या हम अपनी अशांति को हटा देंगे लेकिन ये देखना पड़ेगा और कभी हमारे को हानि दिखेगी लग रहा है कि हानि है अकल्याण है इसलिए अशांति है वहां भी कुछ और सोचना पड़ेगा कि इसमें मेरी हानि क्या है इस बिंदु पे हम और आगे विस्तार करेंगे जहां हमें हानि दिखाई दे रही है वहां हानि है या नहीं है इसकी चर्चा करेंगे आज अंतर यात्रा में जब आप अपने को देखेंगे कल वाली जो घटनाएं आपको अपने अंदर अशांति पैदा करने वाली स्मरण में आई उन्हीं घटनाओं को ले लीजिएगा और उस पर विचार कीजिएगा कि मैं जो अशांत हुआ यहां कौन सी हानि हो रही थी कितनी बड़ी हानि थी किस प्रकार की हानि थी किस प्रकार का मेरा अकल्याण था और इसको सोचते हुए पहले दिन वाली बात ध्यान में रखेंगे कि हम जब कर्म करते हैं तो मैं कर रहा हूं उस समय मैं का मेरा मतलब क्या होता है मेरा परिवार या मेरा शरीर या मैं आत्मा सोचते समय मैं का मतलब मैं चेतन निराकार आत्मा उसके अकल्याण उसकी हानि और उसके दुख को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करेंगे यदि आप इस विश्लेषण में आत्मा पर केंद्रित नहीं हुए या मुख्य रूप से केंद्रित नहीं हुए और मैं यानी तो मैं ये शरीर इस अवस्था वाला स्त्री पुरुष इत्यादि इसको मैं मानते हुए सोचेंगे तो भिन्न निर्णय आएंगे तो ये प्रयास करेंगे आत्मा के भाव को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं घटनाओं को देखें कि यहां अशांति का जो कारण है हानि अकल्याण वो क्या है है भी या नहीं और है तो क्या है इस प्रक्रिया में आप सभी नेत्र बंद करके ही बैठे सीधे बैठ जाइए जैसे आप ध्यान उपासना में बैठते हैं अनुकूलता से नेत्रों को बंद करते ही हमारा मस्तिष्क एकाग्र होता है हमारी जो अन्य गतिविधियां हैं सक्रियता है वो रुक जाती है क्योंकि तो नेत्र के खोलते ही मस्तिष्क का बहुत अधिक भाग सक्रिय होता है नेत्रों को बंद कर लीजिए नेत्रों को बंद कर लीजिए जिनके खुले हुए हैं नेत्र आंखें बंद कर लीजिए आप भी कर लीजिए सभी कर लीजिए मत खोलिए आंख बंद कर लीजिए पूरी तरह से बिल्कुल नहीं खोलिएगा आंख बंद करके बैठ जाइए धीमा लंबा श्वास लीजिए अंतर्मुखी रहते हुए अशांति पैदा करने वाली घटना व्यक्ति उसमें अपना कारण मैं क्यों अशांत हुआ इससे मेरा क्या अकल्याण दुखानी हुई जिससे अशांत हुआ उचित कारण था या नहीं विचार कीजिए और निर्णय कीजिए एकाग्रता से सूक्ष्मता से विश्लेषण विचार कीजिए यदि एक घटना में विचार पूर्ण हो जाए तो अगली घटना ले लीजिए कोई भिन्न प्रकार की घटना ले लीजिए अशांति का कारण क्या बना अशांति के लिए वास्तव में उचित कारण था या वैसे ही मैं अशांत हूं जहां उचित कारण लग रहा है वहां भी आत्मा की दृष्टि से मेरा क्या अकल्याण है ese... और समय देंगे तो और समझ में आएगा जब जब अशांति हो तब तब कुछ समय निकालकर एकांत में बैठ के ऐसे ही सोचना आपको समाधान की तरफ ले जाएगा इससे संबंधित कुछ और बातें हम अगले दिनों में करेंगे उससे भी आपको स्पष्टता होगी और आप स्वयं भी देखेंगे आपको स्वयं भी समझ में आएगा सामान्यतया हम अशांत होने पर क्या करते हैं जब अशांति होती है तो हम क्या करते हैं या तो जिसने अशांत किया है उससे कुछ झगड़ा करते हैं और कुछ करते हैं अथवा अशांति दूर करने के लिए कुछ अन्य उपाय करते हैं किसी मित्र से परिचित से बात करते हैं अच्छी बात करते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं इष्ट मित्रों के साथ कहीं खाने पीने चले जाते हैं कोई फिल्म देखने चले जाते हैं कुछ लोग नशे का प्रयोग करते हैं बहुत से उपाय हम करते हैं और थोड़ी देर में हमें लगता है कि हाँ अब कुछ मन ठीक है प्राय करके हम ये उपाय करते हैं लेकिन ये समस्या को कभी भी शांत नहीं कर सकते अशांति तो रहेगी उस समय शांत हुई है फिर वैसी ही अशांति होगी दूसरी घटना से और फिर हम इन्हीं उपायों का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनेगी कि ये जो उपाय शांति के या मन को ठीक करने के हम समझते हैं काम में लेते हैं ये निष्प्रभावी होते जाएंगे फिर बातचीत करने से भी मन शांत नहीं होगा घूमने खाने पीने चले गए तो भी अशांत है वो शांत नहीं कर पाएगा और इस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे तो लगेगा कि ये कुछ भी काम नहीं आ रहे अथवा हम इनको और अधिक अच्छा करने लगेंगे पहले छोटी होटल में खाने गए फिर बड़ी में जाएंगे फाइव स्टार में जाएंगे विदेश में जाएंगे खर्चा करेंगे इतना लेकिन होगा नहीं समाधान नहीं होगा क्योंकि अशांति के मूल कारण को हमने समझा नहीं अंदर स्थिति वैसी है और समाज को हम बदल नहीं सकते बहुत कम बदल सकते हैं तो वो स्थितियां तो हमारे साथ आती ही रहेंगी और हम अशांत होते रहेंगे एकांत में बैठना प्रारंभ में कष्टप्रद लग सकता है लेकिन यदि हम कुशल हो गए ऐसे सामान्य स्थिति में हम अशांति दूर करने के इस उपाय का अभ्यास कर सके तो जिस समय अशांत होंगे उस समय भी हम इस उपाय को प्रयोग में ला सकते हैं बहुत से लोग होते हैं अशांत हो गए एकांत में चले जाएंगे देखते हैं विचार करते हैं सुलझ जाती है बात एकदम परिवर्तन आ जाता है ये वो उपाय हैं जो आगे हमारे को और कम आवश्यक होंगे या आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उस समय की अशांति को भी दूर करेंगे और भविष्य में आने वाली अशांति के लिए भी अपने आप को हमें समर्थ कर देंगे हम अशांत नहीं होंगे फिर कम होंगे अन्य अशांति दूर करने के जो उपाय हैं मन को ठीक करने के उपाय हैं वो उस समय थोड़ी शांति ला सकते हैं मन को दूसरी तरफ ले जाके लेकिन आगे की अशांति के लिए वो हमारे को तैयार बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि आगे की अशांति और शीघ्र आएगी ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो अपने आप को देखना समझना अपनी अंतर यात्रा करना अपने को शांत रखने के लिए बहुत आवश्यक है और तभी हम अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ पाएंगे आज का विषय इतना ही रखते हैं तीन बार उनका उच्चारण ओ सभी को साधारण